रावण को उपदेश है भगवान ने सबको उपदेश किया है अंत में रावण को भी उपदेश है इसके आगे तो कोई उपदेश के लिए अवसर नहीं आएगा सबने रावण को शिक्षा दी सबने रावण को उपदेश दिया लक्ष्मण जी ने भी उपदेश दिया सिद्धि भी करके भेजी रावण के पास ये है भगवान राम का उपदेश रावण मैंने रावण के उपदेश क्या समस्त लोक कल्याण के लिए सबके लिए उपदेश है ये क्षण याद रखना चाहिए जन जल्पना कर सुजतना सही कल्पना करके अपने यश को नष्ट मत करो नीति सुन ही कर ही क्षमा नीति ये है वो हम तुमको बता रहे हैं क्षमा करना अब जब कोई व्यक्ति छोटा व्यक्ति बड़े से कोई बात करता है तो ऐसे करना पड़ता है कहते आप बड़े हो लेकिन फिर भी कुछ कहना पड़ता है उसके लिए हमें क्षमा करना वो तरीका है भगवान रावण का आदर भी करते हैं उसे अपने से बड़ा नहीं सम्माननीय इसलिए हम तुमसे क्षमा मान करके तब तुमसे कहते हैं मैंने भगवान अपने स्थान पर अपनी सज्जनता पर अपने जो कहना चाहिए एक प्रकार से संस्कृति और सभ्यता के ऊपर भगवान से कह देते हैं रावण रहे न रहे उससे कोई मतलब ऐसा नहीं कि रावण ने जब सभ्यता छोड़ी तो हम क्या करते हैं हमने भी छोड़ दी ये तरीका कोई तो रावण सभ्यता सभ्यता छोड़ दे सभ्य बातें करने लगे लेकिन सज्जन लोगों की सभ्य लोगों का ये धर्म नहीं तो अपनी सभ्यता छोड़ इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो मुझे क्षमा करना नीति तो ऐसी है वो हम तुमको बताते हैं स्मरण दिलाते हैं तुमको तुम तो वैसी सब जानते हो इसलिए कहते हैं कि देखो कि जल्पना जल करत जल्पना करने के माने है मको करना फिजुल की बात है खोखली बात है उनमें कोई तत्व नहीं सार नहीं फिजुल की बातें करना जल्पना है जो व्यक्ति अपनी कहे कहा जाए और दूसरे को न सुने वो जल्पना कहना अपनी बात चाहे तर्कयुक्त हो चाहे तर्कयुक्त न हो किसी को ठीक मानता हो और वही कहे करा कल्पना और दूसरे की बात न सुने हर बात जब कोई कुछ दूसरा कहने को नहीं यदि दूसरा कुछ कहने नहीं माने की सुने की बात को नहीं पहले बोल दे इसको क्या कहते हैं विकल्पा तो जल्दना करने वाले प्राय विकल्पा भी करते हैं व्यवहार में व्यक्तियों के दर्शना प्रसन्ना जहाँ होते हैं वहाँ व्यवहार में सत्ता आ जाती है और वो जैसा भी व्यवहार होना चाहिए सज्जनता का साधुता का वो फिर नहीं रह जाता इसलिए भगवान कहते हैं कि दर्शना को तुम छोड़ो अब अपना जो पौरुष है तुम्हारा अपना वो दिखाओ नीति क्या कहती है कि संसार महापुरुष संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं पाचन रसायन मनस समान तीन प्रकार के कैसे होते हैं एक पाचन के समान दूसरे रसान के समान तीसरे मनस के समान ये दस है तीन पाचन है पाचन के मन गुलाब एक कुछ जैसे तो गुलाब जैसे होते हैं दूसरे रसान समान रसान के माने आम का पेड़ कुछ लोग आम के पेड़ के जैसे होते हैं और मनस समान और कुछ लोग जो है वो करेरी जैसे होते हैं अब इन तीनों में क्या अंतर है गुलाब के जैसे होते हैं मैंने मतलब गुलाब जैसे सुंदर सुंदर फूल और कोमल कोमल होते हैं ये बात नहीं है हम्म, यहाँ दूसरी ही बात हालांकि कटहल में काटे काटे होते हैं लेकिन यहाँ जो है वो कांटों की बात और गुलाब की कोमलता की बात नहीं है यहाँ जो है एक सुमन प्रद बस उसके आगे फल की आशा करो तो कौन सन करने वाला हाँ? बस एक सुमन प्रदर्शन तो कहते हैं कि कहा जी माने जो फूल की तरह से है बस वो कहते कहते हैं उनकी वाणी जो है वो फूल की तरह से बड़ी बढ़िया मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा मैंने ऐसा कार्य किया मैंने वैसा कार्य किया मेरी ये महिमा है मेरी वो महिमा है सब बोले चले जाएंगे बातों बातों में तो फूल की तरह से बड़ी बातों बातें मिला की तरह बड़ी कर लें और सुनने वालों को बड़ी प्रिय लगे लेकिन उसके आगे उनका कुछ भी करने धरने को कुछ कहते हैं कि कहा है दूसरे कहा ही करही अपर अपर मैं दूसरे नंबर दो कौन से हैं जो कुछ कहते भी हैं कुछ करते भी और फिर उसके बाद में एक करण ही तीसरे प्रकार जो है एक करण वो केवल करते हैं और प्रकार कहा करना पा रही वाणी से वो कहते हैं को करने के तरीके से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन श्रेष्ठ है और भगवान किसकी प्रशंसा कर रहे हैं हम्म? और कोई कहते देखो भगवान ने तीन प्रकार के व्यक्ति बताए उनमें से मैं तो गुलाब की तरह से बहुत सुंदर व्यक्ति हूँ बढ़िया बढ़िया बातें करता हूँ भगवान ने बताया तीन प्रकार से मैं से मैं एक हूँ तो इसके माने भगवान ने तीन प्रकार से विभाजन किया उसके तात्पर्य को समझेंगे limited their thinking to science चलता है इसका तो ये सब जो बातें जो ये नीति है जगह जगह रामकृष्ण मानस में नीति का वर्णन है वो नीति की बातें जो है ये सीखनी चाहिए याद रखनी चाहिए ये सब तो व्यवहार की नीति हमारे नैतिकता की नैतिक जीवन का जो है भारतीय नैतिकता क्या है ये नीति के जितने वचन है इनका सबका संग्रह करें अभ्यास करें जीवन में सब नैतिकता है ये सब तो व्यवहार की बात है व्यवहारिक जीवन में ये सब सीखने पड़ेगा इसलिए कोई व्यक्ति अपने मुंह से कभी कभी इस प्रकार का होता है कि व्यक्ति कुछ करना चाहता है ये बात ठीक है लेकिन करना चाहता है तो पहले से बताना शुरू कर देगा मैं करूंगा मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा अब बताना शुरू करने धरने को जो है वो अभी नौबत आती तो नहीं आती पहुंचाना होगा इसलिए पहले जो कुछ करना है अपने मन में प्लान बना लो और अगर कहीं किसी से राय मशवरा करना हो हमें ये कार्य करना है किसी की सहायता देनी हो तो उसको समझाओ कि हम ऐसा करना चाहते हैं इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता है हम ये चाहते हैं इस प्रकार करना चाहते हैं तो भी ठीक है उतनी सहायता ले लो लेकिन बिना सहायता की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि तुम क्या कर सकते हो मैं सब तक करके दिखा दूंगा तो ऐसे ही करके दिखा दोगे तो जब दिखा दोगे तो देखा जाएगा नहीं बाकी कहना बेकार है उसके व्यक्ति की बदनामी नहीं होती है उसके नाम नहीं होता है इसलिए राम बचन सुन दिया भगवान राम ने जब इस प्रकार का उपदेश रावण को दिया तो रावण हसा हंसा मैंने उसने उपेक्षा अरे कहा क्या तुम बातें करते हो मैंने देखो रावण ऐसा अंकारी है कि दुनिया में कोई आ जाए चाहे गीत सुनाओ चाहे धर्म सुनाओ चाहे ज्ञान सुनाओ उसके लिए सब मच्छी मोल है कोई कीमत नहीं उसकी रावण कैसा होगा तुम्हारी नीति खराब और उसको बेचारी जैसा कि इसमें शास्त्र वर्णन आता संसार का चित्रण है कि संसार में ऐसे व्यक्ति होते हैं और उस समय जिन उन लोगों से किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए और अपने अंदर इस प्रकार के दुर्गुण है गुण है तो अपने आप क्या करना चाहिए बस इसलिए इसीलिए शास्त्र दर्पण कहलाते हैं दर्पण के माने समाज के दर्पण हमारे आंतरिक हृदय के दर्पण हमारा मन कैसा है हमारी बुद्धि कैसी है वो दर्पण दिखाई दे अब सामने शीशे के सामने जाओ तो उसमें दिखाई देगा मुंह में कुछ लगा होगा तो शीशे में दिखाई देगा वही लगा हम्म? तो अगर आपको काला वाला लगा दिखाई दे मेरा वेरा दिखाई दे तो आप उनको सफाई कर लो थोड़ा ऐसे करके दर्पण को देखो अगर आपको उसमें दिखाई दे कि हम तो बड़े निकृष्ट व्यक्ति है बातें बातें तमाम करते हैं करने करने को कुछ नहीं न कभी कुछ किया न कुछ कर सकते हैं तो उस व्यक्ति को अपने सुधार कर देना चाहिए नहीं कर सकता है वो तो बात की बात है पहले अपनी बात की मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा मैं ये कर सकता हूँ उसको कहना बंद कर देता है युद्ध की बात फिर करना शुरू कर अगर कर सकता है तो कुछ एक बात उसका जो वो कर मात्र कुछ करके आगे सामने लाओ थोड़ा थोड़ा करेगा तो करने से करने जब कार्य होगा थोड़ा थोड़ा करे करते करते करते करते करते तब आगे बढ़ेगा तो काम दिखाई देगा कि हाँ इतना कार्य हो गया है इसलिए राम बचन सुन दिया था और मोहि सिखावत ज्ञान मोहि सिखावत ज्ञान के माने क्या मान लो हमें समझता है मेरे ज्ञान का क्या ठिकाना मेरे कितना ज्ञान है और ये मेरे सामने ज्ञान की बात है फिर वही रावण का अहंकार वो बार बार दिखाया गया रावण का अहंकार पूरा घंटा कांड में भर में जहाँ से खुद रावण का यही अंका हमें ज्ञान सिखाते हैं हमें ज्ञान सिखाते हैं हम इतने बुद्धिमान हमें इतने इतना इतना करने वाले सारे तीन लोगों को खोजा हम लड़के हमको ज्ञान अच्छा ऐसे करते हुए दो होता है ज्ञान की बात सुन करते तो वह नहीं सब डरे अवधागे प्रिय प्राण और वो कहता है कि पहले जब हमसे बैर किया तब तो तुम्हें डर नहीं लगा अब तुम्हें प्राण प्रिय लग रहा है माने रावण ने उसका अर्थ क्या लगाया उल्टा देखो अहंकारी व्यक्ति एक तो ज्ञान की बात सुनेंगे नहीं और जो उसका अर्थ लगावेंगे तो बिल्कुल उल्टा रावण क्या कहता है देखो तुम्हारे साथ कुर्फ कुर्फ तुम हो रहे करके मारे सब ऐसी ज्ञान की बात तुम सिखाने की कोशिश करते हो जिससे कि हम तुम्हें क्षमा कर दें और युद्ध बंद कर दें तुम्हारी बातों में आ जाए ये ऐसा नहीं होने वाला ये भी संसार में प्रकार से होता है अगर ज्ञान की बात सिखाओ तो सिखाने वाले व्यक्ति की ही निंदा हो कहीं चले हो ज्ञान सिखाने के लिए कभी कभी नीति और धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को निशाचरी स्वभाव के लोग क्या वो हो भौतिकवादी भौतिक संपन्नता में डूबे हुए पीड़ित कराते हुए बर्बाद करते हुए कल्पना करते हुए लोग ज्ञानियों की निंदा करते हैं कहते क्या ज्ञान ध्यान ये सारी जिंदगी नष्ट कर दी ज्ञान के चक्कर कुछ किया खरा नहीं बेकार क्या क्या कहा तुम्हारे ज्ञान इस ज्ञान से पेट बढ़ेगा खाना चलेगा तो मिलेगा तुम्हारे ज्ञान क्या कीमत तुम्हारे ज्ञान अब बताओ क्या कहते ऐसे ही रावण को लगता है ज्ञान ज्ञान ज्ञानवान की कोई बात नहीं कुछ काम नहीं किया एक बार जब तो वो कहीं संगीत का आयोजन हुआ और संगीत का जब होता है प्रकार के आयोजन तो उसके लिए फिर बहुत खर्चा पड़ता है के बाद खाते हैं और हजार हजार रुपए देते हैं दस दस हजार बीस बीस हजार रुपए एक एक रात के संगीत सुनाने के देते हैं वहाँ दो चार दस हजार लाखों का खर्चा हो जाता है तो लोग बात चंदा इकट्ठा करते हैं शहर भर में जा करके ये का आ रहे हैं चंदा इकट्ठा करने के लिए लोग बात गए संगीत का आयोजन किया गया हिम्मत मान करके लोगों ने की एक व्यक्ति के पास गए और उससे कहा भाई आज जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होने आ रही है इसमें आप जो हो कुछ चंदा दीजिए आपके पास एक हजार रुपए कम से कम दीजिए पाँच सौ रुपए दीजिए दो सौ दीजिए और कहने ना हम हजार देंगे ना पाँच सौ देंगे हम एक रुपया नहीं देंगे क्यों कि तुम्हारे इस गाने बजाने से क्या होता है जैसे पेट भरेगा किसी का ठीक है गाना बजाना खड़ा रखता है आदमी है पेट्रोल भरा है गाड़ी में घूम रहा है उसको बैठा यात्रा कर रहा है उसका ज्यादा मूल्य है कैसे तो संगीत संगीत में क्या रखा हुआ हाँ? बढ़िया गाड़ी हो बढ़िया बंगला हो बढ़िया खाने को हो तो, तो कोई बात नहीं है संगीत संगीत में क्या करा ऐसा क्यों है मैंने अगर व्यक्तियों की बुद्धियों का विकास किसी व्यक्ति की बुद्धि का कितना विकास है देहात हमारी शक्ति होगा निराश संगीत होगी होगा तो और संगीत संगीत के कलाओं की कोई मूल्य नहीं अब तो इतनी कलाएं हैं संगीत कला काव्य कला नाट्य कला ये कला वो कला सब है लेकिन वो सब कलाएं सारे संसार के समृद्धि के लिए तो है बहुत से लोगों के लिए कलाओं नाम की कोई बाकी नहीं ललित कलाएं हैं किस प्रकार के सुंदर कलाएं हैं ये साहित्य इत्यादि सब है काव्य है सब कलाएं हैं लेकिन वो कला की क्या कीमत है पशुओं की तरह जीवन जीने वाले केवल सही भोग बाधी उन लोगों से कला से कोई और जो कलाओं से ही जीवन जी रहे वो गंधर्व की तरह से जीवन तो जी रहे बढ़िया सुंदर संगीत का आनंद ले रहे उसका चर्चा का आनंद ले रहे हैं लेकिन उनसे कहो कि कुछ अध्यात्म विद्या भी सीखो वेदांत भी सीखो अरे ना वेदांत वेदांत में क्या खराब हुआ क्या मजा आता है संगीत में जब हम गा रहे हैं तो देखो उसके सामने क्या सुंदर संगीत वेदांत क्या रहता है ज्ञान क्या रहता है और जिसकी जहाँ तक है क्रोध है कहाँ तक है वही सब कुछ है उसके आगे नहीं कुछ सकता है शास्त्र का तो है सब सुझाना सभी प्रकार के लौकिक व्यक्ति है उनकी क्या स्थिति है उससे ऊपर है उनकी क्या स्थिति है उससे ऊपर उनकी क्या स्थिति है किस प्रकार से विभिन्न स्तर के व्यक्ति हैं उनको शास्त्र बताते हैं और थोड़ा सा लेकिन समय हो गया है निर्पराम कामोषरहितम संत श्री राम जय राम जय जय राम